किंच जगत सर्वम प्राण एजति निःसृतम महद भयम वज्रमुद्यतम य एतद अमृता से भवंते भयागस्याग्निस्तपति भयास्तपति सूर्य भयादिंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचम इह चेत असकदबोधुम प्राग शरीर से विश्रता जय तदिदु अमृता से भवंते ततः सर्गेशु लोकेशु शरीरवाय कल्पते यथा दर्शे तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके यथात्सु परीव दृश्यते सदृशे तथा गंधर्व लोके छाया तपयोरिव लोके परमात्मा को समझाने के लिए जो बहुत सी युक्तियां हैं उनमें से एक विशेष युक्ति दे रहे हैं देखो जो दुनिया दिखाई पड़ रही है इसके मूल में परमात्मा है एक युक्ति है जो शरीर के भीतर वृत्तियां उठ रही हैं उनके मूल में परमात्मा है ये दूसरी युक्ति है और यह और मैं दोनों जो मालूम पड़ रहा है जिसको दोनों को जो अपने काबू में रखता है उसका नाम परमात्मा है बोले तो क्या जैसे हमको यह और हमें दो चीज दिखती है ऐसे परमात्मा को भी दिखती है उसकी नजर में भी दो ही है बोले तो नहीं माया से तो माया से देखता है और माया से ही नियंत्रण करता है विद्या और अविद्या दोनों माया की दृष्टि है समझाने के बहुत से तरीके होते हैं उनमें से जो लोग एक को ही पकड़ लेते हैं समझने के तरह तरह के तरीके पर ध्यान नहीं देते हैं उनको बड़ा दुख होता है जीवन में आग्रह नहीं होना चाहिए तो पहले तो ये बात समझ में आ रहे हैं कि इसी जीवन में परमात्मा को अनुभव करना जरूरी है जो ये सोचता है कि इस जन्म में तो धन कमा लो भोग भोग लो बच्चे पैदा कर लो और परमात्मा के लिए तो क्या जल्दी है वो कहीं जाता तो है नहीं अगले जन्म में मिल जाएगा है? तो उसको अगले जन्म में भी नहीं मिलेगा परमात्मा ये कैसी वस्तु है जिसको प्राप्त करना इसी जीवन में सबसे अधिक जरूरी है नशे दिहावेरी भाती परंतु जब परमात्मा को छोड़ करके हम बाधक शक्तियों में लग जाते हैं इसका अर्थ है कि जैसे परमात्मा तो है अविनाशी और हम विनाशी चीजों को चाहने लगते हैं परमात्मा तो है परिपूर्ण और हम अपूर्ण वस्तुओं को चाहने लगते हैं परमात्मा तो है सर्वात्मक और हम उसी के एक रूप से राग और एक रूप से द्वेष कर बैठते हैं और परमात्मा कितनी पोशाकें हमको देता रहता है उनमें से कोई एक ही पोशाक पहनने की जब हम जिद कर बैठते हैं तब हम परमात्मा से विमुक्त हो जाते हैं एक स्थान में मिलने वाली एक रूप में रहने वाली एक काल में रहने वाली माने विनाशी अपूर्ण वस्तुओं में जब हम आसक्त हो जाते हैं तब दुख पाते हैं ये बात समझने की है जब हम ये सोचते हैं कि हमारे पड़ोसी को ऐसे रहना चाहिए क्यों नहीं रहता तो ये हमारा पड़ोसी से द्वेष नहीं है पड़ोसी से राग है उसको ऐसा क्यों रखना चाहते हो तुम तो? जब हम सोचते हैं कि पड़ोसी के अंदर द्वेष नहीं हो दुर्गुण नहीं आवे तो उससे राग है जब हम चाहते हैं कि पड़ोसी में सदगुण ना आवे तब उससे द्वेष है चाहे राग करके हम पड़ोसी का चिंतन करें चाहे द्वेष करके पड़ोसी का चिंतन करें जब पड़ोसी का चिंतन करेंगे तो आत्मचिंतन से विमुख हो जाएंगे तो आध्यात्मिक जीवन जो है वो दुनियादारों की गति से निराला है शारदा कानून बन रहा था शारदा बिल आया था असेंबली में एक हरबिलास शारदा थे तो उन्होंने कोई बिल पेश किया था कि ब्याह के समय लड़की की इतनी उम्र हो गए तो काशी के पंडित लोग आंदोलन करते थे हो झंडा लेकर घूमते थे और तो हमने एक महात्मा से पूछा इस आंदोलन में हमको शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए तो बोले कि देखो समय में जैसे जैसे परिवर्तन होगा वैसे वैसे बिल आवेंगे वैसे वैसे कानून बनेंगे कभी हिंदुस्तान और चीन की लड़ाई होगी तो कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई होगी तो कभी वर्षा से बाढ़ आ जाएगी तो कभी गर्मी से सूखा पड़ जाएगा तो यदि तुम्हें अपना जीवन सेवा के कार्य में लगाना हो लौकिक समस्याओं के समाधान में यदि तुम्हें जाना हो राजनीतिक सामाजिक तब तो तुम अपने को उसमें डालो और यदि तुम्हारी इच्छा हो ये समय समय पर आने वाली स्थान स्थान पर आने वाली जाति जाति में आने वाली प्रांत प्रांत में आने वाली है? संप्रदाय संप्रदाय पर आने वाली राष्ट्र राष्ट्र पर आने वाली बाहरी समस्याओं के समाधान में हमको नहीं पढ़ना है और हमको तो ईश्वर का ही चिंतन करना है तो फिर अपनी नजर को बाहर से हटाकर भीतर ही चलना चाहिए अपने जीवन के लिए एक दृष्टिकोण बना लो कि तुम्हें बहिर्मुखी समस्याओं के समाधान में लगना है कि तुम्हें आत्मा परमात्मा का चिंतन मनन करके और परमात्मा को परम सत्य को प्राप्त करना है वो तो अपनी अपनी प्रकृति होती है अपना अपना दृष्टिकोण होता है कोई अच्छा नहीं कोई बुरा नहीं पर अपना अपना दृष्टिकोण होता है तो वेदांत का कहना ये है कि अनादिकाल से और जब तक सृष्टि रहेगी इसमें जितनी अच्छी अच्छाई और बुरी बुराई मानी जाती हैं वो अधिष्ठान के अज्ञान से ही मानी जाती हैं यदि तुम्हें अपने स्वरूप का ज्ञान हो तो जो बुराई के रूप में दिखने वाला है वो भी परमात्मा का स्वरूप जो अच्छाई के रूप में दिखने वाला है वो भी परमात्मा का स्वरूप परमात्मा का विवर्त है ये शरीर बना रहे ये अभिनिवेश नहीं है किसी से राग नहीं किसी से द्वेष नहीं अपनी विद्या पाप धर्म अधर्म पाप पुण्य सुख दुख इनका अभिमान नहीं और परमात्मा के सिवाय दूसरे किसी पर दृष्टि नहीं है ना और सब सब परमात्मा तो जीवन मुक्ति का जो विलक्षण सुख है उसकी प्राप्ति होती है और मैं गौरी ढूंढन चली रही किनारे बैठ चले थे परिपूर्ण परमात्मा का अनुसंधान करने के लिए और किसी नन्ही मुन्नी चीज में ही अपनी चित्तवृत्ति आसक्त हो गई तो भले वो नन्ही मुन्नी चीज बन जाए या मिल जाए लेकिन जो अविनाशी परिपूर्णतम परमात्मा है उसकी प्राप्ति से वंचित रह जाओगे संसार में जितने महात्मा हुए हैं वो परमात्मा को चाह कर महात्मा हुए हैं परमात्मा को खोज कर महात्मा हुए हैं परमात्मा को पाकर महात्मा हुए परमात्मा को चाह कर परमात्मा को खोज कर परमात्मा को पाय कर सब महात्मा तो ये प्रक्रिया ये है कि ईश्वर ही सर्व का नियमता है अब उस ईश्वर को हो कौन है एक बात ध्यान में रखने के लिए आपको बताता हूँ ध्यान करने के लिए नहीं हो ये नहीं कि आप घंटे पर बैठ के इसका ध्यान करें सो बात नहीं चार अंश में जो अंश बुद्धि है ये संसार है और अंश में जो पूर्ण बुद्धि है उसका नाम उपासना है, है? और पूर्ण में जो पूर्ण बुद्धि है उसका नाम ज्ञान है तो हमारे मत के अनुसार एक अद्वितीय पर ब्रह्म परमात्मा आत्मा ये तो ज्ञान है ये तो विज्ञान है और बाकी जितने मत हैं जितनी उपासना है जितने योग हैं जितने धर्म कर्म हैं वो सब श्रद्धा है श्रद्धा उसको आपको समझा देते हैं है ना यदि परमात्मा के सिवाय और कुछ भी ज्ञान विज्ञान हो है तो वो चीज सच्ची होगी हो जैसे आप देखो हम कहते हैं कि काशी मुक्ति भूमि है काशी तो काशी तो एक अंश है अरे भारत वर्ष में एक प्रांत है एक प्रांत का एक छोटा सा हिस्सा है और भारत वर्ष धरती में बहुत छोटी सी जगह है और धरती जो है वो आकाश में बहुत छोटी सी चीज है और आकाश परमात्मा में बहुत छोटी सी चीज है तो काशी के कंकर भी कंकर समान हैं जब हम ये बात बोलते हैं सज्जन यंत्र लेके आए खुर्दबीन लेके आए कोई डॉक्टर आए कोई साइंस कोई साइंस ना आए हाँ, हम ज्ञान विज्ञान से सिद्ध करेंगे कि काशी मुक्ति भूमि है तो यदि ज्ञान विज्ञान से ये सिद्ध हो गए कि काशी मुक्ति भूमि है तो ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है ये कैसे सिद्ध होगा बोले काशी भी मुक्ति भूमि है और ब्रह्म भी मुक्ति भूमि है ये बात कैसे सिद्ध होगी तो काशी को ब्रह्म से अभिन्न मान करके उसको मुक्ति भूमि माना जाता है माने काशी का मुक्ति भूमि होना श्रद्धा है है ना और ब्रह्म का मुक्ति भूमि होना ज्ञान विज्ञान है ये बात आप सब में ले लेना है ना तो अंश को अंश माना काशी भी ये धरती का एक हिस्सा है तो ये तो भौतिक दृष्टि हुई और काशी की अंश रूपता में ब्रह्म पने का जो अध्यारोप है ये उपासना है ना ये श्रद्धा है श्रद्धा काशी ब्रह्मपुरी तब मालूम पड़ेगी काशी नाल तब मालूम पड़ेगा जब हम श्रद्धा की दृष्टि से देखेंगे वहाँ वो लेबोरेटरी बोलते हैं प्रयोगशाला प्रयोगशाला खोल के काशी की मिट्टी की जांच करके अगर तुम उसको मुक्ति भूमि सिद्ध करना चाहते हो तो ये गलत है अंश में पूर्ण बुद्धि दृष्टि मूलक नहीं है श्रद्धा मूलक है मान्यता मूलक है अच्छा ये धरती की बात है है ना आप देखो तुम्हारे घर में एक ग्राम है एक नर्मदा शंकर है है ना एक शिव की मूर्ति है एक शंकर की मूर्ति है वो तो प्रत्यक्ष आंख बताती है कि साढ़े तीन आंख की है या अंगूठे बराबर की है या एक विलक्ष की है आंख बताती है कि वो पत्थर है तो ये भौतिक दृष्टि है अब उसमें जो ब्रह्म बुद्धि है ये ज्ञान विज्ञान से सिद्ध नहीं है श्रद्धा से सिद्ध है बोला हाँ शंकर जी की मूर्ति को फोड़ के उसमें जांच मत करना कि इसमें ईश्वर कहाँ छिपा हुआ है मूर्ति को देख करके अपने हृदय में श्रद्धा बनाना कि ये ईश्वर है मूर्ति रहे बाहर और हृदय में तुम्हारे ईश्वर बन जाए तो देखो ऐसे लोगों को थोड़ा सुख भी होता है थोड़ा दुख भी होता है ये प्रेमी लोग हैं श्रद्धालु लोग हैं ना दुख क्या होगा जब वृंदावन के आदमी को हाथरस जाना पड़ता है तो रोने लगता है कि देखो हमारी बदकिस्मती आज हमको वृंदावन छोड़ के हाथरस जाना पड़ा है ना वृंदावन में तो ब्रह्म भूमि होने की श्रद्धा है कि वृंदावन तो साक्षात ब्रह्म है और इसमें राधा कृष्ण क्रीड़ा करते हैं और हाथरस बोले प्राकृत भूमि है तो वृंदावन में जो ब्रह्म भूमित्व है वो श्रद्धा मूलक है ग्राम में जो ब्रह्मत्व है वो श्रद्धा मूलक है है ना स्थान विशेष में बैकुंठ में गोलोक में साकेत में हिमालय में जो ब्रह्म बुद्धि है वो श्रद्धा मूलक है वो ज्ञान विज्ञान से ढूंढने की नहीं है है ना वो हमारे मनोनिर्माण के लिए एक युक्ति है जो चीज देखने में परिच्छिन्न मालूम पड़ती है हमारी एक इंद्रिय से मालूम पड़ती है या हमारी चार इंद्रियों से मालूम पड़ती है छोटी सी है विषय है उसमें पूर्ण बुद्धि ब्रह्म बुद्धि बिना श्रद्धा के नहीं हो सकती ये तो साधक का आत्मबल है वो तो प्रत्यक्ष अल्प वस्तु में छोटी सी प्रत्यक्ष वस्तु में परोक्ष पर ब्रह्म परमात्मा को ला करके बैठा देना है ये श्रद्धालु आत्मबलयुक्त साधक का काम है तो ये श्रद्धा क्या है का ये साधक वृत्ति है साधन की वृत्ति है हाँ। श्री उड़िया बाबा जी महाराज थे क्या बोलते थे तो बोले ये ज्ञानी है ये तुम कैसे समझोगे तो ये नहीं कि अब लक्षण घटाने लगे जांचने लगे जोगियों में ऐसी रिवाज है वो जांचते हैं गोरखनाथ के चेलों ने कहा कि हमारा गुरु जो है वो ज्ञानी है तो कैसे ज्ञानी है तो मारो तलवार अब गुरु जी के शरीर पर तलवार मारी गई और टूट के गिर पड़ी बोले हाँ ज्ञानी है वो शरीर ब्रह्म है और उसमें तलवार नहीं लगी तो दत्तात्रेय जी के चेलों ने कहा कि तुम्हारे गुरु अधूरे तुम्हारे पत्थर के गुरु हैं अरे लोहे पर तलवार मारो तलवार टूट जाती है तो तुम्हारे लोहे के गुरु तो हमारे गुरु को तलवार मार के देख कर अब ये लेबोरेटरी की लेबोरेटरी की जांच यही हुई हो हाँ, तलवार मारी दत्तात्रेय जी के शरीर पर तो आर पार हो गई और शरीर कटा नहीं शरीर ज्यो का त्यों और तलवार उधर निकल गई बोले हाँ देखो हमारे गुरु ज्ञानी क्योंकि आकाश रूप है बोले हाँ अभी एक तो पृथ्वी रूप है और एक आकाश रूप है लेकिन ब्रह्म रूप दोनों में से कोई नहीं है बोला <clears throat> ब्रह्म रूप दोनों में से न तुम्हारा गुरु न उनका गुरु हाँ, किसी का गुरु ब्रह्म रूप नहीं है ब्रह्म तो ब्रह्म ही होता है ज्ञानी में ज्ञानी होने की श्रद्धा जिज्ञासु के मन में होती है ज्ञानी स्वदृष्टि से ब्रह्म होता है और जिज्ञासु की श्रद्धा से ज्ञानी होता है जिज्ञासु की श्रद्धा से वो महात्मा होता है महात्मापन जांच पड़ताल से नहीं निकलता है वो महात्मापन श्रद्धा में से निकलता है हाँ। तो मन एकाग्र करना हो तो ज्योतिर्लिंग और है ना सामने देखो मन एकाग्र कर लो और कुछ खेलना कूदना हो तो चलते फिरते कृष्ण का ध्यान करो खेल कूद लेंगे और ज्ञानोपदेश लेना हो तो अपने गुरु को महात्मा को है ना क्योंकि वो तो ज्ञानोपदेश करेगा ज्ञान दान करेगा साक्षात ज्ञानी महात्मा ब्रह्म मान लो परंतु ये सब बात श्रद्धा की है स्वर्ग है ये धर्मानुष्ठान के लिए श्रद्धा है बोला स्वर्ग की प्राप्ति के लिए धर्म करोगे सदाचारी हो जाओगे और अधर्म से बचने के लिए नरक श्रद्धा है और नरक पर श्रद्धा करोगे तो डरोगे कि भाई ये बुरा काम करेंगे तो नरक में जाएंगे तो बुरे काम से बचोगे बुरे काम से बचाने के लिए नरक श्रद्धा है अच्छे काम में लगाने के लिए स्वर्ग श्रद्धा है अपने हृदय में जो संसार के प्रति रागत द्वेष है उसको मिटाए करके वैराग्य उत्पन्न करने के लिए भगवत श्रद्धा है, है? और नारायण ज्ञान प्राप्त करने के लिए महात्मा श्रद्धा है, हैं? और शरीर के को पवित्र करने के लिए गंगा जी की श्रद्धा है कल एक हमसे एक ने कहा कि तुलसी के पौधे में बहुत गुण है इसलिए शास्त्रों में उसकी बड़ी तारीफ लिखी है तुलसी देवता है ये ऐसे नहीं है देखो आज भौतिक दृष्टि से तुलसी में गुण है इसलिए हम लोग उस पौधे का आदर करते हैं ये भौतिक दृष्टि हुई और आध्यात्मिक दृष्टि ये हुई कि हम लोग चूंकि तुलसी पर श्रद्धा करते हैं इसलिए हमारे श्रद्धा संकल्प से ही तुलसी के पौधे में गुणों का उदय हो गया है मन से गुण भौतिकता में आते हैं और भौतिकता से गुण मन में जाते हैं दोनों बातें भौतिकता से गुण मन में जाते हैं और आध्यात्मिकता से गुण भौतिकता में आते हैं दोनों बात ठीक है लेकिन भौतिकवादी मूल मानते हैं भूत के गुण को और आध्यात्मिकवादी मानते हैं मूल गुण अध्यात्म को और तत्व दृष्टि से दोनों नहीं है हमारे ये कहने का अभिप्राय देखो पूरा पूरा अब अब स्पष्टम स्पष्टम बोलते हैं है ना अन्य रूप से ईश्वर का होना श्रद्धा है वेद को अपौरुषेय मानना श्रद्धा है स्वर्ग नरक बैकुंठ साकेत है ना मानना श्रद्धा है वृंदावन काशी मानना श्रद्धा है है ना महात्मा दुरात्मा दोनों मानना श्रद्धा है किसी की दुरात्मा पर होती है कि ये दुरात्मा है और किसी की महात्मा पर होती है कि महात्मा है दोनों श्रद्धा है गोविंद एक ही वस्तु सृष्टि में ऐसी है आत्मा का अस्तित्व जिसके ऊपर श्रद्धा करने की जरूरत नहीं पड़ती ये चाहे किसी भी काल में हो है किसी भी देश में देश कोई भी देश हो ये है कोई भी विषय हो ये है पूर्ण अहम में जो ब्रह्म बुद्धि है वो भी उपासना है श्रद्धा है हाँ, सोहम सोहम सोहम सोहम एक गुरु ने बताया एक किताब में पढ़ा है? एक गुरु ने बताया एक किताब में पढ़ा किताब में पढ़ा और मान लिया कि मैं वही हूँ ये परिच्छिन्न अहम में जो ब्रह्म बुद्धि है कहीं भी श्रद्धा है और अपने से अन्य चैतन्य को मानकर उसको ब्रह्म कहना का ये भी श्रद्धा है और अपने सामने जो मूर्ति है वो भी श्रद्धा है आगे जन्म होगा ये भी श्रद्धा है पहले जन्म था ये भी श्रद्धा है भूत भी श्रद्धा है जिसमें से संस्कृतियां निकलती हैं भविष्य भी श्रद्धा है जिसकी हम कल्पना करते हैं अंतर्देश भी श्रद्धा है जिसमें हम जीवात्मा की स्थिति मानते हैं और बहिर्देश भी श्रद्धा है जिसको हम इंद्रियों से प्रतीत होने पर सच्चा मानते हैं वो भी श्रद्धा है अगर सत्य कोई है तो आत्मा ब्रह्म ब्रह्म आत्मा अद्वितीयत्व जो है यही सत्यत्व है भेद दृष्टि या तो बाधक बुद्धि है और या तो साधक बुद्धि है और बाधक बुद्धि अश्रद्धामूलक है साधक बुद्धि श्रद्धा मूलक है और दोनों भ्रम को स्वीकार करते हैं निर्भ्रम दशा में न बाधक बुद्धि की जरूरत है न साधक बुद्धि की जरूरत है निर्भ्रम दशा में और सभ्रम दशा में जो संसारी रहना चाहते हैं वो बाधक बुद्धि में लगे और जो संसार से छुटकारा चाहते हैं उनको साधक बुद्धि में लगना चाहिए और श्रद्धा जीवन के लिए एक उपयोगी तत्व है और आत्मा परमात्मा की एकता अद्वितीयता ब्रह्मा अतिरिक्त और कुछ नहीं है इसके सिवाय और कुछ भी सत्य नहीं है और कुछ भी ज्ञान विज्ञान नहीं है तो यदिदं जगत सर्वम प्राण ए गति निश्रितम बताया वही एक चीज तुमको ऐसी बताते हैं जिसको जान लेने से ही अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है अमृता भवंती अजना भवंती अदुखा भवंती ये मृत पद जो है ये जनता और दुख का भी उपलक्षण है बता क्योंकि सत के विरुद्ध मृत्यु है तो जो सत है सोई चित्त है इसलिए जो सत के विरुद्ध है वो चित्त के भी विरुद्ध है तो वो जड़ है और जो सतचित है वही आनंद है इसलिए जो सतचित के विरुद्ध है वो आनंद के विरुद्ध भी है इसलिए वो दुख रूप है तो अपने आत्मा के सिवाय और क्या है जिससे तुम दुनिया में प्रेम करने जाते हो वो क्या है तो मृत्यु है वो क्या है कि तो जड़ है मृत्यु है माने वो खुद तो मरेगा ही तुमको भी मरने का दुख देगा वो जड़ है खुद तो वो दृश्य है जड़ है ही हाँ, तुम उससे प्रेम करोगे तो तुम खुद भी जड़ का चिंतन करते करते जड़ हो जाओगे वो दुख है स्वयं और यदि उससे प्रेम करोगे तो तुमको दुखी होना पड़ेगा है? तो जद विज्ञानाद अमृता भवंती अजदा भवंती अदुखा भवंती जिस वस्तु के विज्ञान होने से अनुभव होने से दुख मिट जाते हैं जड़ता मिट जाती है मृत्यु मिट जाती है असल में मैं जड़ हूँ देह हूँ मनुष्य हूँ हिंदू हूँ ब्राह्मण हूँ सन्यासी हूँ है ना ये मैंने अपने आप को जो जड़ के रूप में स्वीकार किया है ये मुझ चेतन ने ही को तो अपने को जड़ रूप में स्वीकार किया है ना है? चेतन में जो जड़ाकार कल्पना है चेतन को ही तो ये मालूम पड़ती है ना कल्पना मैं जड़ हूँ ये वृत्ति किसको मालूम पड़ती है चेतन को ही तो मालूम पड़ती है ना तो असल में मैं जड़ हूँ ये वृत्ति भी चेतन का ही विवर्त है, है? और मैं दुख हूँ ये दुखी हूँ ये अरे मैं परम प्रिय हूँ परम प्रेमास्पद जब हम ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर हमारी सेवा करो ऐसे बोलते हैं बोलते हैं हे ईश्वर हमारा रोग दूर कर दे हमारे पास मौत ना आवे हमें धन भेज दे है ना तो जैसे नौकर को हुक्म देते हैं जैसे होटल में लोग जाते हैं ना तो खिलाने वाला जो होता है बेरा उसको आर्डर देते हैं है ना हमको चाय ले आओ काफी ले आओ ऐसे ही तो ईश्वर को आर्डर देते हैं हमारे लिए ये लाओ ये लाओ ये लाओ है तो जो ईश्वर को सेवक बनाना चाहता है वो अपने को कितना बड़ा कितना प्यारा अपने आप से कितना प्यार करता है वो कि ईश्वर को अपना सेवक बनाना चाहता है तो तुम खुद सबसे प्यारे आनंद स्वरूप है ना जब तुम दुख अनुभव करते हो कि ये दुख है मैं दुखी हूँ तो अब ये आनंद ही अपना मैं दुखी हूँ इस वृत्ति को प्रकाशित करता है अपना चेतन ही मैं जड़ हूँ इस वृत्ति को प्रकाशित करता है अपनी अमरता ही मैं मरता हूँ इस वृत्ति को प्रकाशित करती है और अपनी अद्वितीयता ही मैं परिच्छिन्न हूँ अपनी पूर्णता ही मैं परिच्छिन्न हूँ इस वृत्ति को प्रकाशित करती है नारायण जदिदम किंच जगत सर्वम प्राण ए जति निस्कृता जिसका विज्ञान होने से सच्चिदानंद घर ब्रह्म रूप जो आत्मा है उस आत्मा के सिवाय और कुछ नहीं रह जाता आओ आओ हाँ, विचार करें उसका अरे वो तो हम ही हैं विचार क्या करें बोले ठीक है तुम ही हो तो विचार की जरूरत नहीं है तो यदि कोई शंका होवे कोई अज्ञान होवे कोई हो होवे यदि उसके होने में जरा भी तुमको हिचक होवे तो आओ विचार करो बोले अरे जगत का मूल तो कुछ नहीं है तो जिसको तुम देखते हो कुछ नहीं है ना वो तो रस्सी को न देख करके सांप को जैसे देखा जाता है ना वो इसे कुछ नहीं रूप सांप को तो देख रहे हो वो कुछ नहीं भी सांप है अध्यस्त हो अध्यस्त शब्द का अर्थ आज फिर बता देते हैं आपको अधि ऊपरी अष्टा निक्षिप्ता असुक्षेप धातु है असुक्षेप अधि ऊपरी अष्टा निक्षिप्ता अन्य से ऊपरी अन्य निक्षिप्ता अन्य के ऊपर अन्य को थोप दिया अन्य के ऊपर अन्य का आरोप कर दिया है ना औरत को मर्द समझ लिया मर्द को औरत समझ लिया आजकल देखो ये अध्यारोप तो बड़ा सुगम है बहुत सुगम है आरोप ऐसे ब्रह्म को जगत समझ लेना इसका नाम ये जगत जो है ये ब्रह्म में अध्यस्त है तो जो चीज जहां अध्यस्त होती है उसका अभाव भी वहीं अध्यस्त होता है और जिसको सर्प का संस्कार है वही रज्जु में सर्पाभाव का की कल्पना करेगा तो रज्जु के ज्ञान में सर्प और सर्पाभाव नहीं है परंतु सर्प ब्रह्म जो है ना उस भ्रम के ही संस्कार से कि यहाँ पहले सर्प था अब सर्प नहीं है ऐसा बात है तो जिसको हम कहते हैं कि हमने जगत का अभाव देखा और अभाव को अपने में देखा तो असल में जगत का ही संस्कार पड़ा हुआ है जिससे तुम जगत का अभाव अपने आप में देख रहे हो तुम्हारे अपने स्वरूप में न जगत का भाव है न अभाव है अधिष्ठान अधि ही है ना जैसे ही स्थियते जिसके ऊपर कोई चीज टिकती है ऊपर से जो चीज डाली गई सो अध्यक्ष और जिसके ऊपर डाली गई सो अधिष्ठान स्थान में स्थान है वो स्थान उस स्थान उसको बोलते हैं जो चलता नहीं हिलता नहीं बदलता नहीं वो तो स्थान है और उसमें जो ऊपर से जो चीज डाल दी गई ना जिसके ऊपर माने ऊपर वो चीज टिकी हुई है उसका नाम अधिष्ठान सर्व जिस पर टिका हुआ है वो अधिष्ठान तो ये संपूर्ण जगत किस पर टिका हुआ है हमारे साक्ष्य स्वरूप आत्मा की दृष्टि पर ही टिका हुआ है किस पर टिका हुआ है है ना कि सर्व के मूल में बैठा हुआ जो सत्य है उस सत्य पर ही टिका हुआ है और ये आत्मा शरीर की उपाधि से जैसे जो आकाश है मकान की उपाधि से भी वही आकाश है इसी प्रकार मैं की उपाधि से जो चेतन है संपूर्ण जगत की उपाधि से भी वही चेतन है तो परिच्छिन्न मैं पना और जगत पना एक कक्षा में कर दो और जो साक्षी चैतन्य है वही अद्वितीय परिपूर्ण है तो ये दृष्टि ले आओ तो नारायण जगदम किंच जगत सर्वम ये जितना जगत मालूम पड़ता है तो जगत माने हो क्या गतिशील है गच्छति इति जगत गम गमनरी गतौ धातु है गमनरी गतौ गम धातु गच्छति इति जगत जो चले चले चले उसका नाम जगत तो हम एक महात्मा के पास गए चूल्हे पर बैठे हुए थे चूल्हे पर तो हम जाकर नीचे बैठ गए तो उन्होंने पहले समझाया कि नदी में तुमने कभी भंवर देखा है तो जहां भंवर पड़ता है वहां जल स्थिर मालूम पड़ता है क्यों बोले और पानी बहता हुआ है इसलिए असल में बहता हुआ वो भी है वो भंवर तो आके वहां पानी घूम जाता है इतनी है परंतु भंवर में स्थिरता मालूम पड़ती है वो भी भ्रमण है तो भ्रमण है ना उसमें जिसमें भ्रमण है सो भंवर है भ्रमण है है ना लेकिन दूसरे जल की अपेक्षा सापेक्ष शब्द है बोला और अपना जो आत्मदेव है वो निरपेक्ष है तो देखो तुम धरती पर बैठे तो झूला हिलता हुआ मालूम पड़ता है और झूले पर मैं हिलता हुआ मालूम पड़ता है और तुम फिर मालूम है लेकिन पृथ्वी भी तो झूल रही है ना पृथ्वी भी वो झूल रही है तो पृथ्वी पर बैठे तुम भी झूल रहे हो अच्छा सूरज भी झूल रहा है ध्रुव भी झूल रहा है तो जिस अवकाश में ध्रुव झूल रहा है वो अवकाश भी झूल रहा है फिर कौन है जो साक्षी है वही स्थिर है परंतु यदि साक्षी किसी दूसरे की अपेक्षा से है तो उसकी स्थिरता भी अपेक्षित है तो असल में साक्षी ब्रह्म है ये बात वेदांत बताता है और ब्रह्म है तो चल नाम की कोई वस्तु नहीं है तो ये गतिशील होना जो है ना ये जगत का लक्षण है गति तो कहते हैं शून्य में गति नहीं है तो जब संसार के अणुओं में इतनी गति है इतनी गति है, है? तो अब देखो कि शून्य में गति नहीं है तो अणु का जो अधिष्ठान है शून्य ऐसी कल्पना करो उसमें गति नहीं है लेकिन जहां तक अणुत्व तो है वहां तक गति है कि नहीं हाँ। तो जब तक चेतन में अणुत्व तो मालूम पड़ता है तब तक उसमें गति है हो माने जब तक चेतन जीवाणु के रूप में है तब तक उसमें ऊर्ध्व अधो मध्य की गति है जीवाणु जो है ना जीवाणु और यदि जीवत को उसका भंग हो गया किसी प्रकार तो शुद्ध चेतन में गति नहीं है न गति है न मध्य गति है न ऊर्ध गति है न वो नरक में है न पाताल में है न मर्तलोक में है न दिव्य लोक में है वो तो सर्वत्र परिपूर्ण है तो जैसे अणु का आधार शून्य होता है वैसे चेतनाणु का आधार ब्रह्म होता है ऐसे समझो तो ब्रह्म में जन्म पुनर्जन्म नरक स्वर्ग जाना आना नहीं है अब तुम अपने को ब्रह्म चैतन्य जानते हो कि जीव चैतन्य जानते हो है ना तो जब तक अपने में जीव चैतन्य पने की का आरोप करोगे जीवत्व का आरोप करोगे तब तक वासना के अनुसार गति माननी पड़ेगी और जब और गति माननी पड़ेगी तो जन्म पुनर्जन्म नरक स्वर्ग सब सिद्ध हो जाएगा वासना के अनुसार और जब अपने चित्त वस्तु में अणुत्व का तिरस्कार कर दोगे तो जैसे अणु का आधार रूप शून्य निराकार है वैसे चिदणु का आधार रूप अद्वितीय चैतन्य अद्वितीय चैतन्य निराकार है निर्गतिक है तो ये जो सारा जगत है सर्वम जगत ये प्राणे एजति निस्कृताम सर्व प्राणे परस्मिन ब्रह्मणि एजति कम पते जतस्तव निस्कृता ये पर ब्रह्म परमात्मा में ही हिल रहा है इजरी कंपने कांप रहा है संस्कृत में एजन जो धातु है ना एजन एजरी एजरी कंपनी ये बात तो उपनिषद का आप रोज पाठ करते हैं ना तो उसमें तद एजति तद नैजति तद दूरे तदवंती के परमात्मा के लिए आया है है ना कंपमान के साथ मिलकर के जो कंपमान हो जाता है और निष्कंप के साथ मिलकर के जो निष्कंप हो जाता है और कंपमान और निष्कंप दोनों जिसमें उपाधि है दोनों जिसमें कल्पित हैं न जिसमें कंपन है और न निष्कंपता है दोनों का जो अधिष्ठान साक्षी है उसका नाम ब्रह्म तो ये प्राण कौन है ये प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म है आ, जो लोग अध्ययन के प्रेमी हैं वो ब्रह्म सूत्र के पहले अध्याय में ही एक प्राणाधिकरण है उसका स्वाध्याय करें प्राणाधिकरण पहले आकाशाधिकरण है उसके बाद प्राणाधिकरण है आकाश कल्लिंगा अतएव प्राण आकाश शब्द जो है ये परमात्मा का वाचक है क्योंकि उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का अधिष्ठान है माने अमुक श्रुति में आकाश शब्द जो आया हुआ है वो ब्रह्म का वाचक है तो अमुक श्रुति में जो प्राण शब्द आया हुआ है ब्रह्म का वाचक है क्योंकि तो प्राणी थी हाँ। प्राण माने पर ब्रह्म संपूर्ण जगत का प्राण प्राण माने एक शरीर में चलने वाली सांस में उसी में ये संपूर्ण जगत हिल रहा है चेतन में कैसा हिल रहा है स्पुरना रूप से हिल रहा है स्फुरना क्यों कहते हो का इसलिए कहते हैं कि तुमको जगत दिखाई पड़ता है अगर तुमको जगत न दिखाई पड़ता तो हमको स्फुरना कहने का कहने का ही शौक नहीं था अगर तुमको जगत के बारे में कोई जिज्ञासा न होती और जगत तुमको मालूम न पड़ता तो हमको ये कहने का कोई शौक थोड़ी था कि चेतन की पूर्णा का नाम जगत है अरे तो तुमको इतनी बड़ी दुनिया दिखती है ब्रह्म तो हमको दुनिया नहीं दिखती है पूर्णा दिखती है पूर्णा तो बोले तुमको स्पूर्णा क्यों दिखती है तो तुमको दुनिया क्यों दिखती है तो तुम कहो कि हमको दुनिया नहीं दिखती है तो हम भी कहते हैं हमको पूर्णा नहीं दिखती है जाओ वो तो ढले पर दहला है तुमको संसार दिखता है तब हम पूर्णा का आरोप करते हैं है ना तुम्हें समझाने के लिए नहीं तो परब्रह्म परमात्मा में पूर्णा कैसे होगी पूर्णा को यदि अवकाश हो गए तो वे दिए में से किरण निकलती है रोशनी निकलती है तो रोशनी तब निकलती है जब दिए से बाहर जगह है सूर्य में से किरणें निकलती हैं कब निकलती हैं कि जब सूर्य के बाहर जगह है सूर्य तो देश से परिच्छिन्न है वस्तु से परिच्छिन्न है काल से परिच्छिन्न है तब उसमें किरणें निकलती हैं ब्रह्म जहाँ है वहाँ से किरण निकल के कहा जाएगी जहाँ ब्रह्म नहीं है वहाँ जिस समय ब्रह्म नहीं है वहाँ उसकी पूर्ण जाएगी जिस देश में ब्रह्म नहीं है वहाँ उसकी पूर्ण जाएगी जो ब्रह्म नहीं है वो स्पूर्णा है पूर्णा और ब्रह्म एक ही है कि नहीं है और तो ये संपूर्ण जगत प्राण ए जति निश्रता एक ने पूछा तो शंकराचार्य भगवान से कि ये ब्रह्म में अज्ञान की कल्पना आप क्यों करते हैं ब्रह्म में भला अज्ञान प्रेम प्रकाश में अज्ञान अद्वितीय में अज्ञान है? अविनाशी में अज्ञान कब हुआ परिपूर्ण में अज्ञान कहाँ हुआ अद्वितीय में अज्ञान क्या हुआ शंकराचार्य बोले कि बाबा तुम अज्ञान से चढ़ते क्यों हो इतना ये तुम्हारी चिढ़ कहाँ है सो तो बताओ अज्ञान से अक्षमा भाव का क्रिया बृहदारण्य भाष्य में ये प्रसंग आया है क्यों चढ़ता है रे ऐसे अरे हम तो ये कहते हैं कि ब्रह्म के का अज्ञान ही प्रपंच है अगर तुम ब्रह्म को जान जाते तो प्रपंच नहीं होता तुमने ब्रह्म को नहीं जाना इसलिए प्रपंच है तुमने अनंत अद्वितीय तत्व को नहीं जाना इसलिए प्रपंच है हम तो ये कहते हैं तो बोले कि आपने ब्रह्म में अज्ञान की कल्पना करके ब्रह्म को अज्ञानी बना दिया माया की कल्पना करके ब्रह्म को माया भी बना दिया है बोले कि देखो बात सच्ची ये है कि अगर तुमको ये संसार दिखता है तब तो हम कहते हैं कि ब्रह्म में अज्ञान है यदि तुमको ये संसार न दिखता हो तो हम कहते हैं ब्रह्म में अज्ञान नहीं है और तुम तुमने तो ब्रह्म में हाथी घुसेड़ दिया ब्रह्म में पहाड़ घुसेड़ दिया तुमने ब्रह्म में धरती घुसेड़ दी तुमने ब्रह्म में सारी जड़ता घुसेड़ दी तुमने ब्रह्म में जन्म घुसेड़ दिया मृत्यु घुसेड़ दी नरक ब्रह्म में घुसेड़ दिया विष्ठा मूत्र ब्रह्म में तुमने घुसेड़ दिया है? और हम एक ऐसा अज्ञान ब्रह्म में गुजेर रहे हैं जिससे ये तुम्हारी गुजेरी हुई सारी खुराफात मिट जाए है? तो तुम अपनी खुराफात को तो रखना चाहते हो और उस खुराफात को मिटाने के लिए जो हमने कल्पना की है उसका विरोध करते हो उसका खंडन करते हो अरे तुम ब्रह्म को नहीं जानते इसलिए तुमको इसका नाम दुनिया मालूम पड़ता है अगर ब्रह्म को जानते तो इसका नाम तुम्हें ब्रह्म मालूम पड़ता है हाँ। इसका रूप तो तुम्हें ब्रह्म मालूम पड़ता तो जदिदन इंच जगत स्पर्धा प्राण ये जति निष्कर्ता ये संपूर्ण जगत ब्रह्म में ही प्रकट होकर के दिखाई पड़ रहा है एक बात है दुनिया कांप रही है आपको मालूम है कंपन बिना कंपन की आकृति नहीं बन सकती हो अगर ये सृष्टि कांपती नहीं तो नवीन नवीन आकृति न बनती कांपती नहीं दुनिया तो बच्चा जवान न होता और अगर जवान का शरीर कांपता नहीं तो बुढ़ा नहीं होता और बुढ़े का शरीर कांपता नहीं तो मरता नहीं है बीज कांपता नहीं तो अंकुर न निकलता अंकुर कांपता नहीं तो पौधा नहीं बनता पौधा कांपता नहीं तो उसमें से फूल फल नहीं निकलते तो ये सारी सृष्टि कांप रही है सूर्य कांप रहा है वायु कांप रही है अग्नि कांप रहा है धरती कांप रही है बोला पानी कांप रहा है हम तुम कांप रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश कांप रहे हैं विधि हरि तम्बू नचाओ नहारे कांप रहे हैं सब एक बोला ये कांप क्यों रहे हैं कांप रहे हैं इसलिए कि माग भयम वज्रम उद्यतम उद्यत मिव वज्रम जैसे इंद्र ने हाथ में वज्र ले रखा हो अब मा अब बिजली गिरी जैसे किसी की हालत ऐसी हो ना कि अब बिजली गिरी अब बिजली गिरी कितना डरता है कांपने लगता है डर के मारे ऐसे ये संसार में जितनी परिच्छिन्न वस्तु है है ना और दुख भी कांपता है सुख भी कांपता है कि अब गए है ना लुप्त हुए सुप्त हुए ब्रह्म में क्या उसकी गिनती है उसको खाने के लिए चबा जाने के लिए ब्रह्म जो अधिष्ठान जो है है ना रस्सी सांप को कब चबा जाएगी इसका कुछ पता है, है? और एक नुकता ही तो है ना रस्सी में सांप जो है वो मन कल्पित बिंदु है वास्तविक बिंदु नहीं है मन कल्पित बिंदु है और मन में जो सांप है वो तो वो भी कल्पित बिंदु है तो जो कल्पित है उसके मिटने में कुछ देर लगती है तो जैसे किसी को मारने के लिए वज्र उठा दिया गया हो वैसे अधिष्ठान ब्रह्म में ज्ञान ब्रह्म में ये जो विषय भागते हैं ये सब कहते हैं कब आप मरे कब मरे आप गया पाप गया इनकी कोई गिनती नहीं माघ भयम वज्र मुद्रता ये परमात्मा कैसा बोले महान है परंतु संपूर्ण दृश्य प्रपंच के लिए भय रूप है परिच्छिता के लिए वो भय रूप है कब महाराज दृष्टि बदली और परिचिन की जगह अपरिचिन्न दिखने लगा सर्प की जगह रज्जु दिखने लगी है ना हाँ, और जगत के जगह परिच्छिन्न मय की जगह अपना परिच्छिन्न ब्रह्म दिखने लगा वो है ना क्या घोड़े के रिकाब में पांव और ब्रह्म ज्ञान ये तो नजर का ही पेड़ है नजर का सिर्फ पेड़ है है ना नगर परिच्छिन्न पर लगी हुई है मैं परिच्छिन्न हूँ ये दृष्टि छूटती नहीं है छूटती नहीं है और छूट गई एक पल में छूट छूट गई है ना फूल के मसलने में कष्ट है जो वाशिष्ठ ने कहा फूल के मसलने में कष्ट है आंख नीचने में कष्ट है और अपने आप को ब्रह्म जानने में कष्ट नहीं है क्योंकि यहाँ हाथ नीचने की क्रिया नहीं करनी है यहाँ फूल मसलने की क्रिया नहीं करनी है कोई भी क्रिया करने के पहले कोई भी वृत्ति उठने के पहले पूर्विया अभी अभी मैं चिंतामणि के लिए मंत्र लिखवा रहा था अगले अंक के लिए ऋग्वेद का उसमें ब्रह्म का नाम था पूर्वियम पूर्वम पूर्विया हो पूर्व हाँ हाँ ब्रह्म कैसा बोले पूर्विया हो पश्चिमी तो नहीं है इसको ऐसे बोलते हैं भाव उपासना की दृष्टि से ऐसे बोलते हैं पूर्व वो देश है जहाँ से सब प्रकाशों का उदय होता है और पश्चिम वो देश है जहाँ सारे प्रकाश अस्त हो जाते हैं तो सूर्योदय का देश पूर्व है और सूर्यास्त का देश <laughs> पश्चिम है लेकिन असल में पूर्वी और पश्चिमी हाँ, पूर्व और देश से उपलक्षित और पश्चिम देश से उपलक्षित एक ब्रह्म ही है एक ही परमात्मा है बोला उसी में सूर्योदय होता है और उसी में सूर्यास्त उसी में सूर्यास्त होता है तो ये वृत्ति रूप जो नन्हे नन्हे प्रकाश है ना सूर्य चंद्रमा तारा के समान इनके उदय के पूर्व इनके अस्त के अनंतर वही पर ब्रह्म परमात्मा जगमगाता रहता है वो पूर्व सबसे पूर्व है अनादिसिद्ध है सनातन है कारण कारण है अनादि सिद्ध है सनातन है कारण कारण है द्वैत की उत्पत्ति के पूर्व है द्वैत के भान के पूर्व है द्वैत की प्रियता के पूर्व है ये तीन बात आप ध्यान में रखो जब आप द्वैत से प्यार करने लगते हैं उससे पहले अपने अद्वैत स्वरूप से प्यार करते हैं जब द्वैत का आपको भान होने लगता है उसके पहले अपने आप का भान होता है जब द्वैत की उत्पत्ति होती है उसके पहले आप होते हैं और आप यदि अपने स्वरूप को जान जाए तो न उसमें द्वैत की उत्पत्ति है न द्वैत का भान है न द्वैत का प्यार है ऐसी हाँ, अद्वितीयता अपने स्वरूप में अपने स्वरूप में भरी हुई है जो ये तक विदु अमृतास्ते भवनते जो इसको जान लेते हैं हाँ, हाँ, वही अमृत है पीने लायक दृष्टि में वही है वो पी, पीने लायक माने भोग किया जांचने लायक प्रेम करने लायक स्वाद लेने लायक केवल वही है जो अद्वैत दर्शी है वही अमृत है अमृत स्वर्ग में नहीं रहता अमृत अद्वैत दर्शी महात्मा के शरीर में निवास करता है ओम शांति शांति